धम करते धमक भाई छमक पहना छम छम आई ताता थैया धमक भैया छम छम गहना छमक बहना आ गई छमक बहना हाँ हाँ धमक भैया बोलो अब क्या कहना अरे कहना क्या छमक बहना हम्म। जैसे ही ये पाठशाला की घंटी बजती है मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है ओहो कि जब तुम छोटे थे इन बच्चों की तरह हम्म। अच्छा बताओ क्या बात याद आ जाती है घंटी बजते ही जरा हम भी सुने और ये सामने बैठे प्यारे प्यारे बच्चे भी सुने हम्म। जब मैं छोटा था तब भी ऐसे ही घंटी बजती थी हमारे पड़ोस के बच्चे तख्ती और बस्ता लेकर पाठशाला जाते हमारा भी पाठशाला जाने को जी करता पर हमें कोई पाठशाला भेजता ही नहीं था हमने एक दिन पाठशाला जाने वाले बच्चे को रोका और पूछा क्या हमें भी ले चलोगे पाठशाला जानती हो वो क्या बोला अरे बताओ तो जाने उसने क्या कहा बताता हूँ वो बोला प्रार्थना जानते हो हाँ पहले प्रार्थना फिर पाठशाला इतना कहा और वो बच्चा भाग तो छमक बहना हमने बड़े लोगों से सुना था कि प्रार्थना मंदिर में होगी और हम प्रार्थना से मिलने मंदिर में चल दिए <laughs> वाह वाह हाँ हाँ बताओ बताओ फिर क्या हुआ ये बच्चे भी सुने कि प्रार्थना तुम्हें मिली या नहीं बस उसी दिन शाम को हम मंदिर पहुंचे पुजारी से पूछा प्रार्थना कहाँ होगी वो बोला यहीं बैठो यहीं होगी ओम जय जग स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे आरती हो गई खत्म प्रसाद लेकर सब लोग अपने घर चले गए हमने फिर पुजारी से कहा पुजारी जी ए पुजारी जी हमें प्रार्थना से मिलवा दो फिर पुजारी जी ने क्या कहा धम्मक भैया हाँ, पुजारी जी पहले तो बहुत देर तक हंसते ही रहे <laughs> फिर बोले बेटा प्रार्थना कोई आदमी है जो तुमसे मिलवा दें अरे प्रार्थना क्या होती है हम तुम्हें समझाते हैं हाथ जोड़कर बैठो हम हाथ जोड़कर बैठ गए आंखें बंद करो हमने आंखें बंद कर ली और बोलो राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम जय जय राम विद्या दो हमें श्री घनश्याम जय राम सिया राम जय जय राम बोलो जय राम सिया राम जय जय राम हाँ तो धम्मक भैया हाँ तो छम्मक बहना समझ में आई तुम्हें कि प्रार्थना किसे कहते हैं हाँ भगवान का नाम लेना भगवान का भजन करना ये हुई प्रार्थना प्रभु जी का नाम लेना प्रभु जी को याद करना इसी को तो कहते बच्चे प्रार्थना हाँ? प्रार्थना प्रार्थना हाँ? प्रार्थना प्रार्थना हाँ? प्रार्थना हाँ तो छमक बहना हाँ तो धमक भैया अच्छा जब छमक की समझ में आ गया क्या होती है प्रार्थना और मेरी समझ में भी आ गया और जब मेरी भी समझ में आ गया तो बच्चों की समझ में भी आ गया होगा प्रार्थना धमक भैया ताता थैया जैसे ही ये टन टन स्कूल की घंटी बजती है तो मुझे भी अपने स्कूल की बातें याद आ जाती हैं हाँ तो सुनाओ ना हम भी सुने और बच्चे भी सुने अरे जब हम पाठशाला में पहुंच जाते तो पहले हाजिरी होती थी और फिर प्रार्थना के लिए जाते सब जगह एक ही बात सुनाई देती थी कक्षा से पंक्ति में आओ पंक्ति में खामोश खड़े रहो अच्छा जो देर से आए हैं वो अलग पंक्ति में खड़े हों पंक्ति सीधी बनाओ चारों तरफ पंक्ति पंक्ति <laughs> वाह वाह चम्मक बहना अरे मान मेरा कहना हम्म, पंक्ति क्या बला है तुम्हारी समझ में कभी नहीं आता होगा पर ये बच्चे तो जानते हैं कि पंक्ति किसे कहते हैं और छमक बहना नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती आ। ताता थैया धमक भैया अब तो मैं भी जानती हूँ तब नहीं जानती थी छोटी थी ना हमें बताओ ना कैसे जाना ऐसा हुआ धमक भैया मैंने अपनी दादी अम्मा से पूछा पंक्ति किसे कहते हैं दादी अम्मा बोली मुझे तो पंगत आती है पंगत शादी ब्याह में जब लोग दावत खाने बैठते हैं तो पंगत में बैठते हैं वाह भाई वाह दादी अम्मा ने तो कमाल कर दिया ये पंगत ही तो पंक्ति है ताता थैया धमक भैया मगर मेरी समझ में पंक्ति का मतलब नहीं आया मैंने अपने चाचा से पूछा वो मुझे गेहूं के खेतों के पास लाए और वहां लाइन में खड़े गेहूं के पौधे दिखाए गेहूं के पौधों की लाइन दिखाकर बोले ये है पंक्ति एक के पीछे एक गेहूं के पौधे नजर आ रहे थे मैंने कहा अच्छा जी इस लाइन को कहते हैं पंक्ति जानते हो मैंने फिर चाचा से क्या कहा हमें भी सुनाओ और बच्चों को भी सुनाओ बच्चों तुमने भी देखे होंगे ना गेहूं के पौधे पंक्ति में लहराते लहराते और बल खाते ताता थैया धमक भैया मैंने चाचा से कहा कि आम के बाग में आमों की पंक्ति देखी है तुमने भी देखी होगी ना बच्चों आकाश में चिड़ियों को पंक्ति में उड़ते देखा है और ये बच्चे भी प्रार्थना के लिए पंक्ति में आते हैं पंक्ति में खड़े होते हैं पंक्ति में खड़े होकर तख्ती दिखाते हैं <laughs> फिर बज गई घंटी हाजरी और प्रार्थना के लिए चल दिए बच्चे अपने कमरे से पंक्ति में आए पंक्ति में खड़े हुए सब सीधी पंक्ति बनाकर खड़े हुए हैं खामोश भी हैं सब अच्छे बच्चे हैं ना हम्म। कमरे से आकर पंक्ति में शांत खड़े हो जाते कमरे से आकर पंक्ति में शांत खड़े हो जाते हाथ जोड़ कर देखो बच्चे गीत प्रभु का गाते कभी प्रार्थना गलत न गाता छोटा बच्चा भूल से मजे मजे में आते देखो सब बच्चे स्कूल से सब बच्चे स्कूल से सब बच्चे स्कूल से से। अरे वाह वाह वाह वाह वाह वा। तुम अब अपनी प्रार्थना छोड़ो चम्मक बहना हाँ धम्मक भैया अरे आगे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे